हम खूब जानने वाले हैं उस नीयत को जिसके साथ वो इसे गौर से सुनते हैं जब वो आपकी तरफ कान लगाते हैं और जब वो सरगोशियाँ करते हैं जब जालिम कहते हैं कि तुम नहीं पीछे चलते मगर एक आदमी के जिस पर जादू किया गया है